से साधना तो प्रत्यय रखता है तो क्या होता है हम यहाँ बैठे तो काम छोड़ बैठे हमारा समय खर्च होता है विद्यार्थी रहने से भाई हम तो तंग आते हैं हम बंद करना चाहते संस्था को हम एक्चुअली भाई जब करना चाहते एक प्रकार के विद्यार्थी यहाँ जिनका एक पाठ हम पढ़ा ये नाना प्रकार के जो हो जाते हैं इससे मैं समय का एक प्रकार के विद्यार्थी दो घंटे पढ़ा दे देना अभ्यास करके खत्म एक कार्यशाला का यही उसी कार्यशाला में सब आ जाते हैं नन्हे मुन्ने सब आ जाते हैं और शाम को वो आके रख बैठ जाते हैं वापिस सावधान करते रहता है क्या होता है कैसे लगता है गण के है जब तक गण बना तो कैसा है गल का पाठ कीजिए गण का पाठ कीजिए नित्य पाठ कीजिए दिन भर कोई काम ही नहीं है काम क्या है लोग पर किसी पास आधे घंटे ज़्यादा काम नहीं खाली खाते हैं सोते ये क्यों नहीं याद करेंगे पास होता तुम्हें हम तो इधर बैठे थे माता कब बैठे दिन में भी बैठे सुबह भी यही बैठे रहे तुम तो पाँच साल कब सुना जवाब नहीं तो चाहते तो, तो।, तो एक दिन सुना हम्म। हम्म। तो चौबीस घंटे ठीक है ठीक है चौबीस घंटे सुना तो हम लगातार ही पूछे हम खाली आपसे पूछेंगे बस बस आप क्या बोलोगे बस बस निवासी और आगे क्या बोलोगे बताओ हम्म, हाँ। धातु से साधारण प्रत्यय रखते हैं तो क्या होता है विक्रम कैसे लगता है गम विक्रम जिस गम का धातु उस गम का विक्रम उस गम का ज्ञान आपको कर है और आपका ये आपको छोटे छोटे गम बना के दिए बच्चों के लिए इसमें इसमें बच्चों के लिए छोटे गम और तुम बच्चे ने तुमको व्याकरण पढ़ना है तो तुम्हें बड़े गम पढ़ना है छोटा पढ़ना बड़ा पढ़ना तुम्हारे लिए छोटे गम इसमें और दर पर पाँच सौ धातु इनके लिए दो हज़ार धातु समझ गए तो पाँच सौ धातु कुंभराम का धातु कल का विक्रम उनको विक्रम मालूम हो गए साधारण तो प्रत्यय पर होता है तो कौन के अनुसार विक्रम है दूसरी बात क्या होती है जो धातुआ देश बताए तो विक्रम परे होने पर धातुआ देश होते हैं विक्रम को देख करके होते हैं विक्रम होगा तो धातुआ देश होंगे विक्रम नहीं होगा तो धातुआ देश भी क्यों लगेगा पचास पर लगेगा आधा पर लगेगा पचास सौ रुपये नहीं होंगे इतना नहीं होंगे इतना होंगे अब धातु से विकरण लगा फिर धातु है फिर विकरण है और फिर तीसरा अंकित करते हैं तीन पॉइंट हो गए पहले तीन दो को जोड़ेंगे हम धातु विकरण को जोड़ेंगे जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा तीन प्रत्यय का अंग बन जाएगा वो अंग जो बनेंगे धातु विकरण के जोड़ के जो बनेंगे वो दो प्रकार के अदंत अदंत कौन कौन से बनेंगे शब्द लगेगा शब्द के अंत में आ अदंत बनेगा शैन लगेगा तो भी अदंत बनेगा और खुदा जब पैसा लगे तो फिर शब शैन शब लगा के जो बनेंगे वादी दुवादी दुदादी दोनों शब्द वो शब्द भाव अदंत और Tunisian Tunisian Tudo बना ये भी अभी Divorcian Greek के बना ये भी और चोले भी अभी वादी दिवाली दुलारी चुलारी चार दोनों के अंग अलग हुए इसलिए हमने राधा पाठ में चार दोनों पहले हुए ये कम तो भी हमने तोड़ा ये कम तो हमने तोड़ा ये तो भारत में लड़ा भी बना पड़ा ये कम तो हमने तोड़ा वादी त्रिवादी तुरादी तुरादी चार गमों के अंग अलंकन और छह गमों के अंग अलंकन क्यों लगा तो मुँह आ गया इसमें पटना लगा तो आ तरादी तुरा ऊ अदादी लुक हो गया लुक हो गया तो दातो बंद रहे अंगदंत रहे तो छह गमों के अंग अलंकन चार गमों के अब हम क्या करें なたとの関係としてやっぱ何でもない範囲でそれで助けたらいいんだよだそれでもそしたらそういうでどうするかないんですよ जूता जूता जूता कलर अब देखिए तो प्रत्येक है परसों पद का तो वही आत्मने पद में ते ये अंक नहीं है क्या हो गया ये आते अते से आते इसके प्रत्यय बदल गए आते अते और आते ई की जगह आओ अंतिम पद तीन पत्ते बदल गए गंग में बोल रहे तीन पत्ते को करने अब आप অতঃপর আপনি ওই যে ওই দিন কি কথা বলা হয় আর 2% অবশিষ্ট নে শূন্যতার খোঁজ ওই সরদ কি আত্মরে পদ্ধতি নির্মিত হতে বলি কি আর বিলিনের পরিণতি কত হল কি কোই আর ওই যে দাম تھا उसको याद किया काम हो आत्मन का चिन्ह और यह ये प्रत्यय छः गणों में छः गण के धातु में ये प्रत्यय लगेंगे और चार गणों में अब आप क्यों नहीं लगते हम थोड़ा देना एक दो बार और सवेरे फिर प्रत्यय हम कहेंगे किन किन धातु में क्यों लगाए किन किन बना अलग आप लगाएंगे पेड़ आगे चुनके चिलमाते चिलमाते इसमें अंत्य कभी नहीं छह गणों में अंत्य कभी नहीं